केचला रचसिमग माया बर बाग बनावा मरुत मरुत दे काशु भयाश्रम मुनिः बुझि जल पियौ जाय श्रम राक्षस कपट मिसतः सोहा मायापति दूत चह मोहा पवन सुत नाय माथा लाग सुख राम गुण गाथा वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूँ जिससे थकावट दूर हो जाए राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा होत महारण रावण राम जीति है रामन संशया निहा भये मैं देख भाए ज्ञान दृष्टि दृष्टिबल नागा जलत हे दीन कमण्डल कहक पिनहि अघ थोरे जल जन धर्म करे आतुर आवहु दीक्षा देऊ ज्ञान दे पावहु वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है हे भाई मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है हनुमान जी उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो सर कपि पद गहा मकरे तब यकुलायन मारी सो धर देव्य तनु चले गगन चढ़ जान तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया हनुमान जी ने उसे मार डाला तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली तब दरस भय निष्पापा मिटातात मुनि बर कर सापा मुनि न हो यह निशर घोरा मानहु सत्य चन कपि मोरा अस कही गई अप छरा जब ही निशिचर निकट गय कपित बही कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो पाछे हम ही मंत्र तुम दे हो उसने कहा हे बानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हे तात श्रेष्ठ मुनि का साप मिल गया हे कपि यह मुनि नहीं है घोर निशाचर है मेरा वचन सत्य मानो ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए हनुमान जी ने कहा हे मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा सिर लंगूर पेटी पछारा निज तन प्रगट मरती बार राम राम कहे छाड़े से प्राण सुनि मन हरसी चले वो हनुमान देखा सैलन अवसध चिन्हा सहसा कपिऊ पर गिर लेना गहि गिरने से नभ धावत भयो अवधपुरी पर कपि हनुमान जी ने उसके सिर को पूछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए देखा भरत विशालयते निश्चर मन अनुमान बिनु फर सायक मारवो चाप श्रवण लगितायनि भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा